से तो समझ में आएगी कि परमात्मा ही परमात्र है वही आनंद निधान है उसी की शरण में जाने पर इन सबसे छुटकारा है जब परमात्मा में प्रेम हुआ तो परमात्मा में सुख हुई सब विश्राम मिलेगा शांति मिलेगी ये शंकर जी ने सब क्रम समझा दिया इनको गौरव इसके अलावा इन सब बातों को सत्संग प्रेरण में सत्संग एक और मेरे सत्संग को भी समझाओ इनका सब विस्तार करने के कारण जिससे सत्संग की महिला समझ में आ जाए अब कहा भेज रहे बता दिया तुम सपनों कहाँ कहीं तुम आए हम महात्मा भक्तों हमारी कथा होती है कि उत्तर को सुंदर गुरु मिला के तो उत्तर दिशा में एक सुंदर पर्वत है नीलगिर पर्वत वहां तुम जाओ एक नीलगिर पर्वत की तरह उत्तर दिशा है एक नीलगिर पर्वत दक्षिण की तरफ भी है कहा उसकी तरफ वहां भी आप नहीं करते हाँ, चक्कर में कुछ तो ही पर्वत प्रमाण है तो वहां पर उत्तर बनेगा वहाँ पर मुझे उत्तर बन पहले भारत खंड भरत खंड है प्रेमावर्त है और उसके बाद आगे हम करके जो और देश का क्षेत्र है तो वहां पर जाकर के भरत खंड को और करके और भगवान प्रभु मुझे सर्वत उत्तर निशान है पहले बता सकते हैं सुना पर्वत जहाँ है वही मुझे पर्वत है तो कोई दक्षिण में नीलगिर हमारा सुमर पर्वत है वहां पर जो सुमेर पर्वत है वहां पर नीलगिरी पर्वत है वहां पर कालभूषण कहते हैं तो उत्तर दिशा का तक नहीं जाना है तो ये बताया तो कहते उत्तर दिशा सुंदर है उत्तर दिशा वहां उसमें कभी कोई गुण बताए भगवान का जिक्र एक आदमी वो भगवान है राम खड़ा सुख हरे निरंतर सुनी बुद्धि बुद्धि से पक्षी सुनते रहते हैं तो पक्षियों को हैं तो वहां पर परीक्षा करो कथा सुनते थे हम सुनिए सुनते थे तो ऐसे बताया कि सागर सुमन विद विज्ञान नगर और जगह सुमन भूरी वहां जाकर कपिल भगवान को भी भूरी में खूब सुनो फिर भगवान के गुणों को सुनो मैं सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो क्या हो गया शंकर जी ने इसमें प्रेम पूर्वक समझाया है और बहुत अच्छी बातें समझा दी है बहुत काम की बातें हैं अब हमारा काम बन जाएगा संदेह भी जरूर दूर हो जाएगा और जो हमारी चिंताएं दुख हैं वो भी सब दूर हो जाएंगे ऐसे समझ करके विश्वास रख करके वो चल दिया वहां से चलते समय भी शंकर जी को उसने प्रणाम किया कहते चलो पर चलो हर समय में तब शरण आई हुई शंकर जी का जैसे शंकर जी के चरण में प्रणाम किया ये भी उसके विनम्रता का आते उसने प्रणाम किया था और जाते हुए उसने प्रणाम किया तो उसमें विनम्रता आ गई को उसकी जितनी विनम्रता आ गई तो उसके प्रणाम का अपनी उसे शिक्षा भी मिल गई अब कहते हैं इसके बाद कि पाते उन्होंने मन समझाया अब ये प्रश्न आया मान लो कि पार्वती ने पूछ दिया बीच बीच में बच्चे नहीं ऐसे मालूम होता उन्होंने पार्वती ने पूछ दिया कि भगवान आपको इतने ज्ञान में ध्यान है और इतनी कथा आपने हमको सुनाई दी है कि ये कथा जैसा हमको सुनाई है तो उसको भी आप सुना सकते थे हम्म? आप गरुड़ को आपने ये कथा क्यों नहीं सुनाई हम्म? उसको आपने अपने अगला करके उसको माँ को दूर क्यों नहीं किया तो आपको शंकर भी कहते हैं कि साथ पापे मैंने मैं समझाया है मैंने समझाया कि भगवता की कृपा मेरा मन में पाया कि भगवान की कृपा से भगवान का थोड़ा सा मर्द ही समझते हैं भगवान का नाम क्या है तो वह नर्म है कि हिंदू पूर्ण कदम अभिमाना ये भगवान का नर्म है कि तो जब कोई अभिमान करता है तो इसमें कभी अभिमान किया होगा तो होगा तो कृपा निभाना बस भगवान उस उसके अभिमान को खोना चाहते हैं ये अभिमान या अहंकार किस प्रकार से व्यक्ति को पीड़ित करता है दुख देता है और भगवान इस अभिमान के कैसे विरोधी हैं ये बात जो वो भगवान के भक्त ही जानते हैं शंकर जी कहते हैं इसकी बात को हम समझते हैं देखो ये भी हम भगवान की कृपा से समझते हैं कि भगवान का ये स्वभाव है कि जहां अहंकार होगा वहां भगवान पाप खटक नहीं सकते बल्कि अगर भक्त हुआ उसमें अहंकार आ जाएगा तो उसके अहंकार का नाश करने के लिए भगवान उद्यत हो जाते हैं और दुनिया में सभी में भगवान किसके किसके अहंकार को दूर करते थे जो तो हंस रहे लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त हुआ है और फिर अहंकार हुआ तो भगवान फिर उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और उसके अहंकार को मिटाने की कोशिश करते हैं तो कैसे हैं हम भी समझ गए कि गर्व में कभी अभिमान क्या अब उनका अभिमान कैसे हुआ तो वैसे तो हम सभी के पास आए तो गौड़ ये समझ करके आए थे कि शंकर जी भगवान ने नारायण लिए उनके तो आदरणीय पूजनी हमारे हैं हैं इसलिए आकर के उन्होंने हमारे चरणों में प्रणाम कर लिया तो किसी पूजनीय व्यक्ति से प्रश्न करे और वो उत्तर भी दे दो तो उत्तर भले ही मिल जाए समाधान भले ही मिल जाए लेकिन वो अहंकार का उपचार नहीं हुआ अहंकार तो पूर्वी रहेगा अब भी ऐसे बहुत से लोग करते हैं कहते हैं कि देखो वो देखेंगे कि कौन बड़ा महात्मा है कौन है प्रसिद्ध महात्मा है उसके पास जाएंगे और उससे प्रश्न करेंगे क्यों कि उससे प्रश्न करने में कोई अपने को लज्जा की बात नहीं दो बात कहेंगे गए तो भाई ऐसे महात्मा के पास गए बड़े महात्मा के पास लेकिन अभिमान अगर वहां से नहीं टूटता है तो फिर ज्ञान होते हुए भी नहीं जाना इसलिए शंकर जी ने ये बात समझ नहीं कहा था इनको कौए के पास भेजो और उनको जो खबपत है उनका अभिमान खबपत का अभिमान सब कुछ है इन्होंने गरीब जो है आदित्य अहंकार था वो दोनों में जाकर के स्पष्ट हो जाता है हालांकि यहाँ तक उनका जी ने कहा नहीं है लेकिन प्रकारांतर से इस बात को स्पष्ट कर दिया तो कहीं कहीं ये कथाएं उनको अभिमान कहां से हो गया कब हो गया तो एक का अभिमान का कारण यही हो सकता है तो जैसे कि उन्होंने गए और भगवान के सांपों को खा गए और बंधन में छुड़ा दिया तो गले को ये लगा है अच्छा ये ज्यादा बने तो हम ज्यादा बने बंधन में ये बने तो छोड़ा हमने दिया तो हम ज्यादा बने हुए ये हम ज्यादा बने हुए ज्यादा शक्तिशाली तो हम हुए तो उनको बंधन छुड़ा दिया तो एक तो अभिमान नहीं हो सकता था लेकिन ये अभिमान की अगर बात नहीं अगर ये अभियान की बात होती तो गर्भ में आकर के स्वयं कर दिया था इस प्रकार हम धर्म में आप गए युद्ध क्षेत्र में भगवान ने इस प्रकार हमको सबको को खाया तो इस प्रकार हमको लगा वो भगवान ही ने ये तो सब बात बताई उनको तो इसलिए शंकर जी को चाहे नहीं अवसर को आ रहा तो देखो ये भी के समय किस व्यक्ति के किस कर्म का किस स्थिति का कब उसको फल मिलता है और कहाँ क्या घटना घटती है वो कोई कई हिसाब से काम लगाने लगे कि अभी ऐसी बात हुई इस बच्चे ने अभी यहाँ पर बुराचार भ्रष्टाचार किया अभी उस उसको कोई फल नहीं मिला तो ऐसे इतनी जल्दी नहीं होता इनका सबका फल जो है कर्मों का फल अपने उसके व्यक्तियों की उसकी गलतियों का फल ये कालांतर में मिलता है उनका उपचार का जब समय आता है तब किस प्रकार से प्रशंसा होता है इसलिए सारे का में सुधार गुण बुरा बोलते हैं तो फल बुरा होता होता समय लगता है फल होता इसलिए जो है कोई व्यक्ति समझे जो है हमें समय अंतर लेकिन हमारा समय नहीं लगता हम्म? हमारा हमारा तो नहीं बिगड़ सकता तो ये सब उसका बहुत जब तक नहीं बिगड़ता तब तो तक नहीं बिगड़ता नहीं कर तक गए लेकिन कायम करने देखे तब उसका अभिमान में किस प्रकार से उसी को नीचा दिखाया उसी को परेशान करो ऐसे तो इसलिए शंकर जी कहते हैं कभी उसने अभिमान किया होगा अभिमान के संबंध में कोई लोग कहते हैं कि एक होते हुए उसे नीलगत पर्वत से निकले थे जब दस नीलगत पर्वत से निकले तो आश्रम भी देखा था दर्शन मिला और वहां देखा कि पक्षी कुछ बैठे हुए हैं लेकिन उन्होंने कहा दर्शन जो है वो ये गरुड़ जो है वहां पर ठहरने बैठने उन्होंने अपने को अपने बने समझा अरे कहा ये पक्षी पक्षी बदला होगा जा ये है वो ये तो सब परिवार है हमारी और सब गरीब गरीब है इसके बीच में क्या जाना क्या बैठना है ऐसे करके अपने राज्य पिता हनुमान जी यही कर है और भगवान को ये था कि उसको अब उसका मोह दूर हो तो कालभूषण जैसे भक्त का ये मैंने अभिनय दिया तो कालभूषण को आगे चलिए कथा से पता लगेगा कि भगवान ने इसके द्वारा जो कालभूषण का अपमान हुआ था वो दूर कराया और कालभूषण को महिला बनाई भगवान ने और उधर गुरु का लोग ये अभिमान इस अभिमान को भी करवाया इस प्रकार की योजना बनी कि सत्ता काम कितना हो जाए कहते हैं कि हमने तीन कदम अभिमानी शोक प्रोदय का अस्पताल निभाना भगवान उस अभिमान को खोना चाहते हैं ये भगवान की कथा ऐसा नहीं है कि देखो भगवान का अहंकार नहीं से भी ज्यादा बड़ा अहंकार होगा किसी के अहंकार का सही नहीं करते उसके अहंकार का प्रयोग करने की दूर है तो उसके मैंने भगवान को जाए अहंकार होगा ये बात नहीं है भगवान दूसरे के अहंकार को नष्ट करते हैं लेकिन स्वयं अपना अभिमान को तो नहीं बढ़ाते अपने अभिमान की रक्षा करने के लिए बढ़ाने के लिए तो नहीं कर ये तो भगवान की कथा ये अभियान जो है एक बहुत भारी रोग कैंसर है इसको दूर करने के लिए उपचार करते हैं हम्म? स्वयं अपने आप को संविधान नहीं करते भगवान इसलिए कहते हैं कि शोक हो गए चरत्र का निभाना और कत कोई कोई ही नए नए तो फिर जिससे जो है वो हमने एक दूसरा कारण भगवान बताते हैं कि देखो एक बात तो ये थी उसका गुमान का वही का विषमता दूर होगा इसलिए जो है इसी बात में दूसरी बात ये कि भाई इस कमी से सुनने कहना चाहिए अब कथा में अंग्रेजी बोल रहे हैं और दूसरा सुनने वाला हिंदी जानने वाला बेचारा कैसे समझेगा तो हिंदी में कथा सुना रहे हैं सुनने वाला अंग्रेजी जानता है तो कैसे कथा समझ में आएगी उसको बोलने के टूटी फूटे के भी बोल कुछ कुछ अलग अलग बात बता दीजिए लेकिन कथा का सुनने का बोल कथा है सुननी है तो जब जिस भाषा में जो बोल सकता है फ्लुएंटली बोल सकता लगातार बोल सके उसी भाषा में वो बोले और उसी भाषा में समझना वाला बोलना चाहिए संभव होगा नहीं तो भाषा का असर खड़ी है बार बार ये कहेंगे कि आदमी क्या कहा आदमी क्या कहा आदमी क्या कहा शब्दों समझ नहीं आ रहे हैं और वो जो कहना चाहता है वो अपनी कही नहीं पाता उसकी भाषा में सुनो तो फिर ये भाषा का व्यवधान बीच में नहीं आना चाहिए इसलिए कहा शंकर जी ने कहा जैसे तैसे हमने उसको बात तो कर ली वो अपने पक्षी की भाषा में बोल रहा था हम अपने देव भाषा में बोल रहे थे लेकिन जैसे तरह कम्युनिकेशन थोड़ी बात तो हो गई लेकिन अब ज्यादा देर तक पूरी हो सकती थी इसलिए कह दिए इस तरीके को तो परिणाम नहीं रहा था समुदाय खन खबरी के भाषा पक्षी पक्षी की बात को समझता है इसलिए उसको तो पक्षी पक्षी की बात को कह करके ये भी बता दिया कि भाई जिसकी जो भाषा है उसी भाषा में भगवान की कथा को तुम समझ प्रभु महाराज बलवंत भगवानी और जान मोह पवन जानी अब ये शंकर जी की तो कथा हो गई उनकी जरूरत की और पार्वती जी को समझा रहे हैं शंकर जी तो देखो हमने सब गरुड़ की कथा सुना करके उनको अब इसका सार क्या है क्यों ये कथा तुम्हें के साथ सुनाई अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि देखो भगवान की माया कितनी बलवंत है प्रभु माया बलवंत भवानी भवानी संबोधन उन्हीं के संबोधन है पार्वती सुनो समझो देखो भगवान की माया कितनी शक्तिशाली है कि जाए है कवन अज्ञानी कैसे हैं और की तो कथा ही क्या है उनको तो हमने स्थान देते नहीं है ज्ञानियों ने बताया बताया ऐसा कौन सा ज्ञानी है जिस ज्ञानी को उस माया ने मोह डाला हो ऐसी विचित्र बनाए आई है अब कैसे गरुड़ का ये उदाहरण ले लो देखो गरुड़ साधारण जारी व्यक्ति है गरुड़ की महिला समाते हैं देखो कैसे बातें गरुड़ में फिर भी वो हो गया कैसे ज्ञानी और भगत श्रोणी में दो बातें और प्रभुवन पत्र पर ज्ञान ये तीसरी बात काल लोह माया ऐसे गरुड़ को भी माया ने मोहित कर दिया और मैं करूँ दिमाग उसकी तुलना में तो मनुष्य बिल्कुल पानर हम्म? वो भी विमान करे अभिमान रखे तो वो क्या अभिमान उसका क्या वो तो माया में तो फल ही हुआ उसको तो माया का क्या सवाल है अभिमान में तो फल ही है तो तीन बातें एक तो जरूर कम जाने नहीं है ज्ञानी है भगवान के भक्त हैं तब तो भगवान के पास सब बने तब तो उनके ज्ञान करें इसलिए प्रभुवन तक कर ज्ञान ज्ञान में खड़ा है मैंने वो प्रगुण करके जितने लोगों के सामने भगवान नारायण है उनके ये सवारी है उनके उनके पार्षद हैं उनके निकट रहते हैं इतने होने पर भी उनको योग मानो बस अनुभव देवी ये मार का प्रभाव बस वेदांत के हिसाब से जहां चाहे कहीं भगवान के निकट हो चाहे इतने पास हो चाहे बड़े ज्ञान हो लेकिन जहां द्वैत तो उत्पन्न हुआ उन्होंने पकड़ लिया तो और लिए मैंने जैसे मैथमेटिक्स के या केमिस्ट्री वगैरह के सूत्र होते हैं हाँ, उसी प्रकार से वेदांत का सूत्र कि जहां द्वैत तो उत्पन्न हुआ चाहे लोग ने पकड़ा द्वैत है अहंकार मैंने मैं और परमात्मा दो अलग अलग तब अहंकार रहेगा और फिर अहंकार में बुद्धि का अहंकार शरीर का अहंकार दुनिया का और अहंकार तमाम तरह के घमंड अभिमान नाना प्रकार के अहंकार में आते रहेंगे अहंकार तो फिर द्वैती कहा फिर एक परमात्मा सर्वत्र हो गया अद्वितीय परमात्मा हो गया अनुभव हो तो कैसे हो और नया उसको घेरे तो कैसे करे नया सबको तो थोड़ी माया घेर लेगी अब वो स्वयं माया के साथ परमात्मा के साथ एक ही कर हो और अपने अलग से हम है ही नहीं तब उसको माया वहां पर नहीं पहुंच सकती माया की सीमा पर द्वैत में है क्योंकि माया के द्वारा द्वैत की उत्पत्ति होती है और द्वैत भी जब तक है कोई तब तक माया भी उसके साथ लगी हुई है तो कहते हैं शिव ग्रहण से करेंगे वही और को है तो पुराण आए हम फिर देखो अब हो सकता है कि पहला दोहा तक तो शंकर जी का हो और दूसरा दोहा जो तुलसीदास का हो तो बेटा जी कहते हैं कि शिव ग्रंथ का हम भाई कि शंकर जी पर ब्रह्मा को भी लोग डाल देना तो शंकर जी पहले जाएंगे क्योंकि शंकर जी को डाल देंगे हम जो शिव बोल रहे हैं तो इसके मैंने कोई दूसरा बोल रहा है शंकर जी का कथा कौन सुना रहा है शंकर पार्वती जी तुलसीदास जी सुना रहे हैं अब ये तुलसीदास जी की बात है वो कहते हैं शिव ग्रंथ कर्म हई को है बत संकल्प जी ने तो ये कहा जरूर ऐसे ज्ञानी भगवान के भक्त और ऐसे उनके याद उनको भी माया ने मोड़ लिया संसार में दूसरा फैन जो है उनको जो है अभिमान करे लेकिन आज भी कहते हैं संकल्प को भी मोड़ डाल ब्रह्मा को भी मोड़ नहीं डाल ऐसी मैं सो ज्ञान से कहा जो है ये कोरा न ऐसी माया का बल है किसी में माया माया की बात बहुत चलती है लोग समझते हैं वो फिजूल की बातें इतनी माया को क्या करना है जो है सो है अरे उस माया का जाल जो है वो समझने को तो कोई पर भी उसकी उसको जब तक ये माया का प्रभाव दूर नहीं होता तब तक स्वयं शांति नहीं मिलती तो माया को तो समझ नहीं पड़ेगा और माया को समझने के लिए जब तक परमात्मा नहीं समझते तब तक माया कहां से समझी आती है इसलिए कहते हैं सो गर्म से कहा मैं तो है बकरान और दूसरा बकरा विचार जो शंकर जी को और जब ब्रह्मा जी को भी ये न्याय मोहित कर दे और अपने उसके ऊपर ऊपर चढ़ा खराब हो जाए तो फिर दुनिया में और बेचारे कौन है जो अपने करें कि हम जो है माया में नहीं पड़े हैं वो हमें नहीं पड़े हैं ऐसे जो है हमें भगवी माया पति भगवान ऐसा जान करके जो समझदार व्यक्ति हैं वे जो माया पति भगवान का भजन करते हैं भगवान का भजन करते हैं कई भगवान का जो माया पति है उस भगवान का भजन करते हैं ये मैया के सामने भगवान का भजन करेंगे तो भगवान के शरण में रहेंगे अब भगवान की जिम्मेदारी हो जाएगी अब भगवान माया छा नहीं सकते क्योंकि माया पति इसलिए माया को छुड़ा नहीं सकते हैं माया से दूर भी रख सकते हैं इसलिए भगवान के शरण में जाने से उनका भजन करने से उन्हीं के प्रति में भाव रखने से उनकी कृपा आकांक्षा कहने से वही अहंकार भी दूर करें अज्ञान भी छुड़ाएं और वही माया से भी छुड़ाएं वही मोह से भी छुड़ाएं ये सब वही कर सकते हैं समर्थ है इसलिए उन्हीं के समय में जाते हैं अंततः छोटे मल की मदद से भोग मैंने क्या हुआ कि माया के द्वारा माया कुछ है तो क्या तो छुटी जाती है हम्म? जैसे पिताओं को बाल दिलो कोई अगर चाहे तो उसको पानी कोई मतमत करके इसमें व्यक्ति निकालिए तो इस माया में से छुटकारा माया को रगड़ते रगड़ते इसी को करके कुछ थोड़ा निकलने वाला न्याय कर्मचारी भी फंसे चाहे भी इसकी समस्याएं कहीं करते रहो चाहे भी भूत भाग से करते रहो चाहे की चिंताएं करे रहो तो इनसे सही मिलावट होने वाला नहीं अंत हो जाएगा कभी न कभी माया कभी न कभी अहंकार मिटल जाएगा कभी न कभी लोग मिटल जाएगा ये कोई मिटने वाला थोड़े ये तो महाराज ही तो कोई इसका कारागार थोड़ा है में अंतर पर घेरे रहने वाली छोड़ने वाली नहीं है में अंतर पर पीछे लगी रहती है तो इससे छुट्टी करने बस यही है कि जो माया जिस परमात्मा की शक्ति है जिसका वो स्वामी है शक्तिमान जो परमात्मा है उसकी शरण जाए तो फरमाया छूटे अशुभ ये ज्ञान भजन मुनि मायापति भगवान अब आगे देखेंगे कि फिर ये बात यहाँ खत्म हो गई अब गर्व चले आगे अब फिर वहाँ आश्रम में पहुँचते हैं कालभूषण के आश्रम में और बाबे सत्यम